بسم الله الرحمن الرحيم والمراد أنه علم يعرف به علم به يعرف هذه الأحوال من حيث أنها يطابق بها اللفظ لمقتضى الحال خلاف पीछे फन अव्वल शुरू हुआ था अलफन अव्वल इल्मानी पहला फन इल्म मानी इल्म मानी के जरिए क्या होता है हम्म? क्या चीज़ हासिल की जाती है इल्म मानी से क्या फ़ायदा है इल्म मानी का क्या सिखाता है इल्म मानी है क्या मौके पर किस तरह का कलाम होना चाहिए इसका उसी की एक तारीफ है वह हुआ इल्म इल्म मानी वो ऐसा इल्म है यो योरफू भी जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के अखबार लफ्ज़ अरबी जी अल्लती बिहा युताबिक लफ्ज़ मकसद हाली जिसके ज़रिए लफ्ज़ अरबी के अहवाल को पहचाना जाता है लफ्ज़ अरबी के उन अहवाल को पहचाना जाता है जाना जाता है जिनकी वजह से जिन अहवाल की वजह से लफ्ज़ मुख्तव हाल के मुताबिक होता है क्योंकि ये तारीफ की इस तारीफ से चंद चीज़ों से एतराज़ किया था ये बदलाया था यहाँ पर अहतराज अहवालतीफ़ा क्या बदलाया था इसके अंदर इन्होंने ये तारीफ़ की कि इल्म मानी वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के उन अखवाल को जाना जाता है जिनकी वजह से लफ्ज़ मकतज़ हाल के मुताबिक होता है अलाल है इदगाम है रफ़ा नसब जर वगैरह हैं तो इनकी वजह से ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये इस काम के लिए नहीं आती इनकी वजह से लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक होता हो तो इसलिए इनसे एतराज़ हो गया इसी तरह बतलाता महसिनत हैं महसिनात बदीया जिनसे कलाम के अंदर हसन और ख़ूबसूरती पैदा होती है

तारीख को करने करना ये एतराज़ है उन अहवाल से जो इस सिफत पर ना हो इस सिफत पर ना हो यानी उनके ज़रिए से कलाम को मकसद हाल के मुताबिक न किया जाता हो मिसलाम मिसाल के तौर पर एलाल है इजाम है रफ़ा नसब और जो इसके मुशाबे ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में मिम्मा लाबुद्दमिन माना उन चीज़ों में से के जो के जिनके लिए ज़रूरी है असल माना के अदा <laughs> करने में ये जो आती हैं ये असल माना को अदा करने के लिए आती हैं इनसे लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक नहीं होता और ऐसे ही महसिनत बदिया हैं यानी तजनीस तरसी वगैरह इनका बयान आएगा इन दुरुसुलबलागा के अंदर आ जाएगा और जो पढ़ चुके हैं उनके सामने आ चुका है बाकी मुख्तर में अल्लाह तोफीक देते तो आ जाएगा वरना तो इनशाला आएगा तो है आया क्या मैंने बताई दिए महसिनात बदिया क्या होते हैं जैसे रब का फकब है तो इसके अंदर कल्ब है इसकी तनाज होती है रा बा का रब बा का है ना उसी को पलट दो उधर काफ है फिर बाहे फिर रहा है क्या हो जाएगा कबीर रब्बा का और कबीर सात वैसी है तो भी एतबार सारे बाकी असल क्या है राबा काफी है इधर से पढ़ा तो रब्बा का हो गया और इधर से पढ़ा तो कबीर हो गया तो इस तरह के कुरान करीम के अंदर बहुत है जब तुम उसको पढ़ोगे तो देखना कैसा अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा जी मिम्मा यकून बाद रियायत मुताबकती ये उन चीज़ों में से है कि जो मुताबकत की रियायत के बाद होती है क्या होती है मुताबकत की रियायत के बाद महसिनत बदिया ये जो सब चीज़ें लाएंगे जब लाएंगे जब कलाम मुख्तयाल के मुताबिक हो जाएगा अब उसके अंदर वो सब चीज़ें जिनसे हुसन पैदा होता है उनको लाया जाएगा जैसे उसकी मिसाल इस तरह से मान लो कि एक घर बनाया तो पहले घर के अंदर जो है उसका ढांचा बनेगा प्लस्तर वगैरह वो हो जाएगा और फिर उसके ऊपर कलर किया जाएगा अच्छा सा खूबसूरत सा और डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग बनाई जाएगी तो ये जो इल्म बदी है ये डिज़ाइनिंग का काम करता है गोया कि ये डिज़ाइनिंग का और उसके अंदर उसमें जमाल का खूबसूरती का काम करता है यहाँ तक तो सब बातें हो चुकी थी अब यहाँ आगे की जो इबारत है इसको समझाने के लिए मैंने इसको पीछे से जोड़ा है देखो तारीफ देखो तारीफ इल्म मानी वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए पहचाना जाता है अरबी लफ्ज़ के उन अहवाल को जिनकी वजह से लफ्ज़ मुख हाल के मुताबिक होता है पहचाना जाता है यू अरफू मारूफत और ये दो होती हैं एक मारफत तस्वुरिया और एक मारफत तस्कीया तो यहाँ मारफत से मारफत तस्वुरिया मुराद है या मारफत तस्कीया मुराद है मुसनफ़ सारा कहते हैं कि यहाँ पर जो मुराद है वो मारफत तस्कीया है मारफत तस्वुरिया मुराद नहीं है क्योंकि मुसनफ़ ने तारीफ की है कि इल्म मानी ऐसा इल्म जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ और अहवाल को जाना जाता हो या हैसियत की कैद है किस हैसियत से कि लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक हो जाता हो ये है हैसियत कि लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक हो जाता हो और ये होगा किसमें तस्दीक के अंदर तस्वुर में नहीं होगा हम्म। तस्वुर क्या है कायम जैद आलिम फाजिल तकदीम ताखिर ये सब तस्वुरात हैं तो इनमें लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक होगा नहीं होगा ना अरे सिर्फ जैदन कहा इसमें क्या मुख्त हाल की मुताबकत होगी कायमन कहा तो इसमें क्या मुख्त हाल की मुताबकत होगी लेकिन जब कहेंगे इन्ना जईदन कायमन ये जईदन कायमन देर खड़ा है अब होगी मुख्त हाल के मुताबिक खाली जहन है उसके सामने कह दिया जैदुल कायम देर खड़ा है हम्म? या काम जैदुल कह दिया देर खड़ा है ठीक है ना लेकिन सिर्फ कामा कह दें या सिर्फ पाइमन कह दें या सिर्फ आलिमन कह दें या सिर्फ जैदुल कह दें इससे कोई मुताबकत नहीं होती तो मुताबकत होती है किसके अंदर तस्दीक के अंदर अरे तस्दीक किसको कहते हैं तस्दीक नाम है हुक्म का तस्फिर में हुक्म होता है ना और तस्वर में हुक्म नहीं होता और मुताबकत जब पाई जाएगी तो उसके अंदर हुक्म होगा बगैर उसके मुताबकत हो ही नहीं सकती मैंने बताया ना अभी जैसे जैद है तो जैद में क्या मुताबकत होगी जब कहेंगे जैदुल कायम जैद खड़ा है तो अब यहाँ पर मुताबकत पाई जाएगी तो ये खाली जैन के सामने कह रहे जईदुल कायम जैद खड़ा है होगी मुताबकत तो ये बताओ तस्वर है या तस्दीक तस्दीक तो कहते हैं कि यहाँ पर मारिफत से स्त्री और आर का लफ्ज लेकर आए ना किसी का मजदूर बना रहे हैं मारिफत से मुराद क्या है मारिफत हम्म? है मारिफत मुराद नहीं है और मुराद ये है कि वल मुराद और मुराद ये है कि ऐसा इन जिसके ज़रिए पहचाना जाए इन अहवाल को इस हैसियत से इस हैसियत के उनके ज़रिए लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक हो जाए ये कहा बेजहूर इल्मानी इबारतन अन तस्वरी मानी तारीफ़ी व तनकीरी व तकदीम व तखीर वस्वत वसफ़ वगैरह ज़ालिक इस बात के ज़ाहिर करने के लिए के इल्म मानी वो नाम है तारीफ तनकीर तकदीम तखिर इस बात हज वगैरह के नाम नहीं इनमें मानी वो नाम नहीं है किसका तारीफ तनकीर तकदीम तखिर इस बात हज वगैरह के मानी के तस्वुर का बल्कि किसका है इन सब की तस्दीक का है हाँ यानी कि सिर्फ तारीफ इसका तस्वुर कर लो तो क्या हो गया मुख्तार के मुताबिकत होगी ऐसा नहीं है अच्छा जी अरे यहाँ तक बात समझ में आई थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा कुछ सब ही इस तरह का है वह भी हारा और इसी से किसी से ये जो हैसियत की कैद लगाए थे ना इस हैसियत से के उसके ज़रिए लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक हो जाए या खरूज निकल जाएगी तारीफ से क्या इल्म बयान अरे इल्म बयान यहाँ पर तारीफ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा क्यों प्लीज लईसल बासूफी अन अखबार लफ्जी मिन, मिन हाजिर हैसियती इसलिए कि उसके अंदर लफ्ज के अहवाल से इस हैसियत से बहस नहीं होती चलो वहाँ तो इल्म बयान में क्या होगा पीछे आया था ना बतलाया था कि एक मुराद को मुख्तलिफ तरीके से अदा करना जैसे जैद सखी है उसको जैदन सखीन और जैदन कसरमाद वगैरह ये कहना और फिर इसके अंदर के हकीकत और मजाज याद है जैदन सखीन कहना ये हकीकत है और जैदन कसरमाद ये कहना मजाज है तो ये जैद बहुत ज़्यादा राख वाला है मुराद क्या है कि जैद सखी है तो जैदन कसरमाद कहना इसके अंदर मजाज है मजाज है ना अरे ये मुराद थोड़ी है कि उसके घर में राग भरी पड़ी है मुराद क्या है कि वो सखी है तो इल्म बयान के अंदर तो ये सब चीज़ें सिखलाई जाती हैं ये सब चीज़ें बदलाई जाती हैं वहाँ ये नहीं कि जो है उसके ज़रिए से लफ्ज़ मकसद हाल के मुताबिक हो जाए वहाँ ये चीज़ नहीं सिखलाई जाती तो जब ये कहा मिन हईसू इस हैसियत से कि लफ्ज़ इस हैसियत से कि उसके ज़रिए से लफ्ज़ मकसद हाल के मुताबिक हो जाए तो ये जो हैसियत की कैद यहाँ पर लगाई है तो इससे ये बात भी मालूम हो गई कि इससे जो है इल्म इल्म बयान भी जो है इस तारीफ से निकल गया और इसके ज़रिए यानी इस हैसियत की कैद लगाने के ज़रिए इससे तारीफ से निकल जाता है क्या इल्म बयान इसलिए कि उसके अंदर लफ्ज़ अहवाल से इस हैसियत से बहस नहीं होती है अरे आई बात समझ में आई बात अब आगे वल मुरादू बहवाल लफजी अलमूर लहू मिन तकदीमी व तखीरी वलस्बाती वलहसबी वगैरह जालिका और मुराद अहवाल लफ्ज से कहा था ना वहाँ पर वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए ऐसे लफ्ज़ अरबी के वो अहवाल जान लिए जाएँ अहवाल लफ्ज ये जो आया था तो इससे क्या मुराद हम्म? फरमाते हैं कि इससे मुराद वो उमूर हैं आरिजत लहू जो उसको पेश आते हैं क्या लफ्ज को यहाँ पर क्या पेश आते हैं यही तकदीम है कहाँ कलाम को मुकदम करना है किसको मौखर करना है हम्म? आया था ना दुरुस्त बलागा में बाब तकदीम तखिर का बाब इसी तरह इस बात और हज से है कहाँ जिक्र करना है कहाँ हज करना है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वही बतला रहे हैं कि अहवाल लफ्ज़ से क्या मुराद है कि अहवाल लफ्ज़ से वही उमूर मुराद हैं जो उसको आरिज होते हैं यानी तकदीम तखिर बात हज वगैरह अब आगे की जो बात है वह मुख्तल हाली पीछे एक बात आई थी अगर याद हो तो इंशाल्लाह याद बात तो होगी ना लेकिन फिर भी हो सके कुछ याद हो तो यहाँ आई थी मैं पीछे मुसन्फ की तहकीक आई थी कितना पच्चीस सौ वगैरह पच्चीस सफा हाँ। वलबलागत फिल कलामी मुताबकत मकसद हाली मा फसाहती इसके अंदर इसकी तारीफ करी थी बलागत किसको कहते हैं कलाम बलागत फिल कलाम कलाम का मुख्त हाल के मुताबिक होना कलाम के फसी होने के साथ साथ अब आगे इन्होंने व तहकीक ज़ालिका अन्नजुजियात ज़ालिकल कलाम बिला बीच में बीस दफ़े में बिल्कुल एक तो वही बात थी फिर उन्होंने अपनी एक तहकीक पेश की थी कि इसकी तहकीक ये है कि वो उस कलाम मुक्कद की जिसकी याद में से होगी जिसका हाल तकाजा करता है यहाँ एक इसकाल हुआ था फिर उसकी तहकीक पेश की थी है कुछ जहन के अंदर हम्म? नहीं देखो यहाँ पे असल में ये नीचे तक की जो इबारत है इससे एक स्टॉल को रद्द करना चाह रहे हैं दूर करना चाह रहे हैं तारीफ की वह हुआ इल्म इल्म मानी वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के उन अहवाल को पहचाना जाए हम्म, जिनकी वजह से लफ्ज़ मकसद हाल के मुताबिक हो जाए अहवाल क्या है अहवाल हाल पढ़ा ना हाल की तारीफ क्या पढ़ी थी वल हालू Hmm. हम्म। वो जो तकाजा करने वाला है दाई है किस बात का है त्यामर का है ना है निकालो हम्म। है हुवल eh, हाल वो ऐसा अम्र है जो तकाजा करने वाला है दावत देने वाला है दाई है इस बात की जानब के एतबार किया जाए उस कलाम के साथ जिसके ज़रिए असल मुराद को अदा किया जा रहा है किस चीज़ का एतबार किया जाए खसूसियत माँ हम्म, किसी खसूसियत का ठीक है तो हाल क्या है खसूसियत है है ना वो अमरेज जो दाव जो तकाजा करती है इस बात का और वह वो मुख्तल हाल ये जो खसूसियत हम लेकर आएंगे मिसाल के तौर पर ताकीद तो ये क्या होगी मुख्तज हाल होगी यहाँ पर दोनों चीज़ें एक हो रही हैं उसी को जो ये रद्द करना चाह रहे हैं इससे ज़रा थोड़ा गहरी नज़र से देखो इल्म मानी वैसा इल्म जिसके ज़रिए से अरबी लफ्ज़ के उन अखबाल को जाना जाए उन अखवाल को जाना जाए यानी कोई खसूसियात को जाना जाए कि जिनकी वजह से लफ्ज़ साय के मुताबिक होता है मकतज़ हाल की और मकतज़ हाल क्या है वो खसूसियत तो क्या मतलब हो गया इल्म मानी वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ की उन खसूसियात को जाना जाए हम्म, जिसकी वजह से लफ्ज़ खसूसियात के मुताबिक होता है तो यहाँ मुताबिक और मुताबक दोनों एक हो गए मुताबिक और मुताबक दोनों एक हो गए तो कहते हैं कि ये तो हमारी वो तारीफ क्या भूल गए तुम हमने जो पहले तहसील करी थी वो तो एक तरतरी है ऐसा एक तहसील हमने बात कही थी उसको सामने रखोगे तो फिर एतराज नहीं होगा उन्होंने कहा था कि उसके एक कुल्ली लो अमरे कुल्ली जैसे इधर इनकार था है ना और उसके लिए हमने क्या लिया था अल कलामुलमक्कद अरे इनकार हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कलाम मुक्त का होना और वो जो हम पेश कर रहे हैं वो उसकी जुस्ती हो कलाम वो उस कुल्ली की जुस्ती हो तो हम उसकी ताकिद लेकर आए थे उसकी एक जुती लाए थे क्या इन्ना जैदन कायम उधर इनकार था हल्का इनकार था इधर इन्ना जैदन कायम लेकर आए तो अब वो जुजी थी किसकी कलाम मौक़ की नहीं वो कलाम मौक़ की जुजी थी वो कहा पर्चे मैंने दिया था बहुत तरह से लिख रखा था कहा है वो हाफिज जी है कहा क्या हो गया हम्म? क्या हो गया उसे है? है? देखो देखो यहाँ देखो इधर मुखातब हम्म। और मुखातब है मुनकर तो मुखातब जो मुनकर है मिसाल के तौर पर आम रहे तब तो ये जो मुखातब आम रहे मुनकर इसका जो इनकार है ये क्या है हाल इसका इनकार हाल है ये एक खसूसियत का तकाजा करता है किसका वो क्या है ये तकाजा किस बात से कर रहा है कलाम कैसे लाया जाए है कलाम कैसे लाया जाए ताकिद के साथ लाया जाए ठीक है ना तो जब कलाम को हम ले आए ताकिद के साथ तो ये ताकिद के साथ कलाम लाना मिसाल के तौर पर ये कहना कि इन्ना जैदन किरदार वो इनकार कर रहा है कि जैद घर में नहीं है और ये कहना कि बेशक जैद घर में है तो अब ये कलाम मुख्त हाल के मुताबिक हो गया ये तो बात आसान है इसी की दूसरी बात बतलाई थी इसी पर तो एतराज़ हो रहा है और उसी को जो है एतराज़ तो दफा किया है इस तरह से एक मुखातब है one gives. हम्म। उसका इनकार ये हाल है इनकार कर रहा है ना तो ये हाल है अब ये हाल किसका तकाजा करता है ताकि का तकाजा करता है तो अब हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पर तो हमने ये कहा था कि कलाम मुख्तद हाल के मुताबिक अब कलाम मुख्तद हाल क्या तो मुख्तद हाल ताकिद था ना तो उसमें लिया थे नजीदन सिद्धार्थ अब यहाँ पर कलाम मुआकद ये कुल्ली लेकर आएंगे कुल्ली जो सिफत के साथ मौसू कलाम मुआकद और उसी की वो जुजी होगी जैसे नजीदन फिदार है तो ये जुजी किसकी है कलाम मुआकद की तब मुख्त हाल जो बनेगा वो कलाम मुआकद जो कुल्ली है वो बनेगा ना के वो जुजी कलाम कल बनेगा और वो उसके अपराध में तो होगी तो इस तरह से कलाम पेश किया जाएगा यहाँ पर उसी को कह रहे हैं जरा इबारत में देखो और मुख्त हाल तहकीक में यानी तहकी कौल के मुताबिक हुल कलामकुल्ली वो कलाम कुल्ली है अलमतकैफ विकैफियत मखसूसत जो मुतसिफ हो कैफियत मखसूस के साथ जैसा मौका हो जैसे अलकलामकद है कहाँ जब इन, इधर इनकार हो तो उधर ताकिद के साथ कलाम वो अलकलामकद ये मकसद हाल बनेगा और इसी तरह बदलता बदलता बदलता रहेगा जैसा हाल होगा ऐसे ही उधर जो है खुली आती रहेगी राय समझ में उसी को फरमा रहे हैं हम्म। इस सूरत में वो खराबी लाजिम नहीं आएगी उस तो सूरत में क्या हो जाएगा जैसे यहाँ मानो वह हुआ इल्म इल्म मानी वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से अरबी लफ्ज़ की उन खसूसियात को जाना जाए जिसकी वजह से लफ्ज़ कलाम कुल्ली के मुताबिक होता है अरे उन खसूसियात को जाना जाए जिसकी वजह से लफ्ज़ उन खसूसियात के मुताबिक होता है अब ये नहीं हुआ अब क्या हो गया जिनकी वजह से लफ्ज़ कलाम कुल्ली के मुताबिक होता है वो कलाम कुल्ली कुछ भी हो सकता है कलाम मुफ्त हो या उसका अलावा और कोई हो इस सूरत में एतराज़ वारिद नहीं होगा और मकसद हाल की तहकी तहकी कौल में हुल कलाम कुल्ली वो तो कलाम कुल्ली है जो मुतफ़ हो बिकैफियत मखसूस मखसूस कैफियत के साथ अलामा उशीर फिल्मफ्ताही उसकी बिना पर जिसकी तरफ इफ्ताह में इशारा किया गया है इफ्ताह से मुराद मिफ्ताहलूम किसकी है मिफ्ताहलूम अल्लामा सादुद्दीन तब्ता जानी रहमतुल्लाह की है ना और किसकी क्या नाम है उनका अल्लामा हाँ, माशा अल्लामा कब्दुलरहमान कजलीनी अच्छा अच्छा वो वो है क्यों क्या बताओ चलो जो बहरहाल उसके मुतनफ है कोई नफरी तो है वो हाँ उस पुस्तक का भी चलो तो अलामा उशी फिल मफ्ता रहा भी फी ही और उसके सराहत की उसकी शराह में अरे मफ्ताहलूम की शराह कौन सी है तलखीस ला नफ्सल कैफियात अरे वो नहीं वो मुस्तबल मुराद होगी ला नफसल कैफियती मिन तकदीमी व तखीरी व तारीफ़ी व तनकीर अलामा हुआ ज़ाहिर इबारतमफ्ताही वगैरह ला नफसल कैफियती ना के सिर्फ ना के नफ्स कैफियत अरे मुराद क्या है कलाम कुल्ली है नफ्स कैफियत मुराद नहीं है यानी तकदीम मुराद हो बस तखीर व तारीफ तनकीर ये नहीं जैसा कि मफ्ताहलूम की ज़ाहरी इबारत से मालूम मफ्ता वगैरह की ज़ाहरी इबारत से मालूम होता है तो मुख्त हाल किसको कहते हैं वो कलाम कुल्ली है ना कि नफ्स कैफियत जैसे ऊपर वाली मिसाल में कहा वरना तो बात सही हो जाएगी अगर ये बात ना मानो ना तो बात सही हो जाएगी के अहवाल कि वो ऐसे अहवाल हैं जिनकी वजह से लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक होता है लियाना आयन मुख्त लमा सहल कबल वरना तो बात सही नहीं होगी वरना तो बात सही नहीं होगी ये कि उसके ज़रिए से लफ्ज़ मुख्त हाल के मुताबिक हो जाए क्यों नहीं होगी इसलिए कि वहाँ भी खसूसियत और वहाँ भी खसूसियत लियाना आयन मुख्त खाली इसलिए कि वो क्या है आयन मुख्त हाल बेआनी ही मकसद हाल है वही खसूसियत अरे समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये जो अहवाल है ना अहवाल से मुराद खसूसियत और मकसद हाल उनसे मुराद खसूसियत तो दोनों जगह मुताबिक और मुताबक एक जैसे हो रहे हैं है? वक़द हक़ना दाली का शरही और हमने इसकी तहकीक कर दी है किसके अंदर शराह के अंदर हम्म। यहाँ पर मुराद है मुतवल इसकी शराह है ना अब तुम सोच रहे हो क्या ये हल्की फुल्की सी बतला दी तो लंबी चौड़ी सी बहस चाहिए थी इसकी कम रहेगी तो कह रहे थे कि हमने शराब के अंदर इसकी तहकीक कर दी है तो देखने चाहे तो देख लेना अच्छा जी वह अखबाल इसनादी में अखबाल लफ्ज़ का मसला मिनल एतबारात अब यहाँ से एक एतराज़ है उसका जवाब देना चाह रहे हैं कहते हैं अहवाल इसनादी इसनाद के अहवाल भी लफ्ज के अहवाल के कबील से है इस एतबार से के ताकीद और के ताकीद मिसाल के तौर पर उन एतबार में से है जो नफ्स जुमले की तरफ राज होते हैं जईदन खड़ा है अरे नस्बत है ना इसमें वेद की तरफ का नस्बत है खड़े होने की कहा है जरा दिखाओ लफ्जों में है जैदन कायमन जैद खड़ा है अरे नस्बत लफ्जों में दिख रही कहीं कहा है हाँ? खड़े होने की और कायमन कायमन खड़ा होने वाला नस्बत कहा है लफ्जों में तो नहीं दिखाई देती हालांकि उससे भी जो है बहस होगी इतना से भी बहस होगी आगे बाब आएगा क्या अहवाल इसनादिल खबरी हम्म? अहवाल इसनादिल खबरी इसनाद खबरी का अहवाल इसका बयान आएगा हालांकि इसनाद वो कोई लफ्ज़ है नहीं और तुमने क्या कहा था कि इल्म मानी ऐसा इल्म जिसके जरिए से अरबी लफ्ज़ के अहवाल अरबी लफ्ज़ के अहवाल को पहचाना जाए ये तो लफ्ज़ है नहीं कहते तो हैं कि देखो अहवाल इसनाद भी वो लफ्ज़ अहवाले लफ्ज ही में से हैं डायरेक्ट नहीं है बल्कि जुमले के वास्ते से इस एतबार से कि ताकीद और तर्क ताकीद ये अहवाले इतनाद में से है ताकीद का लाना ताकीद का ना लाना मिसाल के तौर पर ये उन एतबार में से है कि जो नफ्स जुमले की तरफ राज होते हैं जैद कायम जैद खड़ा है तो इसमें जो नस्बत है हुँ? हम्म, तो ये नस्बत अगर से जाहिर नहीं है लेकिन जुमले के अंदर तो जुमले के वास्ते से जो है और जुमला जो होता है उसमें लफ्ज है निस्बत जुमले में और जुमले के अंदर लफ्ज है तो इस एतबार से बिला वास्ता नहीं बल्कि बिल वास्ता यहाँ पर उस तारीफ के अंदर ये दाखिल हो जाए उसी को बतला रहे हैं कि अहवाल इसनाद भी वो लफ्ज के अहवाल ही के कबील से है इस एतबार से कि और तर्क ताक़द मिसाल के तौर पर उन एतबार में से जो नफ्स जुमले की तरफ राजे होते हैं लौटते हैं आगे एक सवाल और है हल्का सा और सवाल ये है कि तुमने ये कहा कि सब ये तारीफ करी है क्योंकि उसी की तारीफ से उसी की जो पूरी तशरी चल रही है आगे तक इसमें है तो और भी बात लेकिन जरा वक्त भी कम सा हो रहा वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए अरबी लफ्ज़ के उन अहवाल को जाना जाए अरबी लफ्ज़ के अहवाल को जाना जाए उर्दू के नहीं बंगाली के नहीं नेपाली के नहीं है एक आदमी बात करता है उर्दू के अंदर राजस्थानी में बात करता है तो ये सामने वाला मुमकिन हो हम्म? क्या कहता है कसम खाता है तो मतलब रियायत तो वो भी कर रहा है हुँ? हम्म? तो तुम कह रहे हो अरबी लफ्ज कहते हैं कि ये तो इस वजह से ये कोई फेर अख्तराजी नहीं है एक इतला है यहाँ पर इसलिए अरबी का लफ्ज का जिक्र कर दिया गया चूँकि ये है असल समझने के लिए अरबी को कौन से अरबी को कुरान करीम वाले अरबी कुरान करीम को समझने के लिए और कुरान करीम जो नाजिल हुआ है वो नाजिल हुआ है किसमें राजस्थानी जबान में है ना नो इज नॉट पुराने के नाजिल हुआ है अरबी में इस वजह से कह दिया कि अरबी लफ्ज का <laughs> हुआ वरना तो वो तो सबके अंदर ही ये चीज़ होती है और लफ्ज को ख़ास करना अरबी के साथ महज इतला है इसलिए कि फ़न को उसी के लिए वजा किया गया है आगे होगी बात समझ में चलो